सकल पल तोरी ते न कपट बहोरी अब देखो यही उसका कपट का अंत नहीं हुआ एक रावण एक के बाद एक के बाद एक और माया फैलाते जाता फैलाता जाता है पहले तो सबको इस प्रकार से जागरूक कर दिया स्थगित कर दिया चकित कर दिया अब एक तरफ तो हनुमान जी बेहोश पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ और क्या लीला करता है रावण कि एक नकली हनुमान बनाता है और एक नहीं हजारों हनुमान बना देता है नकली असली हनुमान तो बेहोश नकली हनुमानों ने क्या किया प्रगटे विपुल हनुमान हजारों हनुमान उसने इकट्ठे कर पैदा कर दिए और ढाए गए पाषाण और वो सब पत्थर ले लेकर के दौड़े हनुमान होंगे तो पहाड़ ले लेकर दौड़ते हैं तो हनुमान जी नकली हनुमान वो भी पहाड़ लिए दौड़े और दौड़े कहा तिन राम घेरे जाए ऐसे हनुमान जो राम ही को घेर ले जाके लेके पत्थर उन्हीं के ऊपर आक्रमण कर ऐसे हजारों हनुमान थे आप सब लोग देखेंगे ये हनुमान को क्या हो गया और इतने हनुमान कहाँ से आ गए और इन्होंने सबने भगवान राम के ऊपर कैसे आक्रमण कर लिया कैसे भीड़ दिया देवता भी आकाश में देख रहे हैं ये कैसा युद्ध हो रहा है ये हनुमान को क्या हो गया रावण के ऊपर आक्रमण करते थे तो ये कहाँ से आ गए राम के ऊपर उनको भेज लिया आ गए तो चौदिस बरूद बना है अब ये जो है हनुमान ने पूरी सेना का सेना बना करके चारों तरफ तरफ हजारों हनुमान बन करके चारों तरफ से भगवान राम को घेर लिया अब कैसे भगवान राम दिखाई देते हैं और कैसे हनुमान दिखाई देते हैं <clears throat> ये जरा देखना कहते मारव धरव जन जाए कटकट ही पूछ उठाए अब वो सब हनुमान जितने हैं सब पूछ पूछ उठा उठा करके सब किटकिटाते हैं और भगवान राम के लिए कहते हैं कि जाने न पावे जाने न पावे मारो इसको घेर लो घेर लो <laughs> ये दशा और तो दस लंगूर विराज दसों दिशाओं में हनुमान की पूछे फहरा रही लंबी लंबी पूछे चारों तरफ से हनुमान उनकी सबकी पूछे साथ के सब इस प्रकार से लहरा रही तो आप कैसे भगवान दिखते हैं मध्य देखो कलराज उनके बीच में भगवान श्री राम जी सबसे घेरे हुए बांधों से या हनुमान से घिरे हुए कैसे दिखाई दिए सही मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही लाल लाल सद लंगोर और उनके बीच में श्याम वर्ण भगवान बीच में खड़े हुए हैं अब बताओ कैसी सुंदर शोभा है कोई दृष्टान दिखाई देता है आपको मिलेगा अब ये भी भगवान की सुंदरता है अब देखो जिसको सुंदरता देखनी है हनुमान जी तो आक्रमण करे ललकार रहे और भगवान राम उसके बीच में खड़े हुए हैं और वहाँ भी भगवान राम की सुंदरता देखो कैसी है कि जन इंद्र धनुष अनेक की बर्फारे तुंग कमाल ही जैसे इंद्र धनुष तमाम इंद्र धनुष निकले हो और इंद्र धनुषों की बाढ़ लगी जैसे कि बगीचे में बाढ़ लगा जा लगा दी जाती हो पेड़ लगा दी गई चारों तरफ से सड़क के किनारे किनारे जैसे हैज लगा दी गई तो हैज की जैसे ही चारों तरफ तो हनुमान हनुमान तमाम खड़े हुए हैं चारों तरफ से हैज की तरह से घेरे हुए खड़े हुए हैं और वो तो मानो लगते हैं कि इंद्रधनुष निकले हुए हैं और उसके बीच में भगवान राम कैसे खड़े हुए हैं तुंग तमाल ही जैसे एक बहुत ऊंचा जो है तमाल का वृक्ष खड़ा ऐसे भगवान राम जैसे एक तमाल का वृक्ष खड़ा हो और चारों तरफ जो है इंद्रधनुषों की बाढ़ लगी हो जो उसके बाढ़ है जो हैज है वो इंद्रधनुषों की है और बीच में तमाल का वृक्ष खड़ा होता है ऐसा दिखाई दिया तो भगवान राम श्याम वर्ण तमाल वृक्ष समाल का वृक्ष जो है वो बहुत इतना गहरा हरा होता है वो काला जैसा दिखाई देता है नीला जैसा तैसे समाल वृक्ष के समान भगवान राम कर दिया तुंग समाल ही तुंग मन ऊंचा समाल का वृक्ष माने भगवान राम ऊंचे बानर सब हनुमान जब वो उनके आकार में सब छोटे चारों तरफ उनको घेरे हुए बाढ़ की तरह से खड़े हुए ऐसे हो गया और वो सब ललकार रहे हैं हनुमान जी उनको राम को कि कहीं भाग के जा रहे था पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसे करके सब हनुमान चिल्ला रहे ये तो प्रभु देख हर्ष विषाद सुर ये सब देवताओं ने देखा कि भगवान को की ये दशा हो गई भगवान राम की बानरों की सब सेना सब सेना सेना इस प्रकार से व्याकुल है सब बेहोश है तो भगवान राम भी हनुमान से घिरे हुए हैं कोई चारों तरफ से घेरे हुए हैं तो माने पराजय की भी सीमा होती बिल्कुल एकदम से अंतिम निश्चित में पहुंच गए कि सब कि सब भारत सेना सब शिथिल सब देवोर ये सब सब तो देवता लोग जो है एक जो है उनको विषाद हुआ दुख भी हुआ लेकिन भगवान राम जो है सब बानरों के बीच में समाज रखी की तरह से खड़े हुए हैं तो उनको देख करके भगवान के सुंदर स्वभाव को देख करके बड़ी प्रसन्नता भी हुई ऐसा सुंदर रूप नाना प्रकार की भगवान राम की झांकियाँ एक युद्ध क्षेत्र की ये भी झांकी देखो हजारों हनुमान उनको घेरे खड़े हुए हैं और भगवान राम बीच में समाज तरह से देवताओं को प्रसन्नता भी हुई तो भरत जय जय जय करी भरत माने बोले सब देवता लोगों ने जय जयकार भगवान की बोली देवता लोग भी अब तक समझ गए होंगे क्योंकि ये तो बार बार रावण इस प्रकार से लीला करता रहता है उसकी माया सभी करती रहती माया ज्यादा देर चलती नहीं है भगवान माया काट लेते हैं इसलिए देवताओं को हर्ष विषाद तो होता है देख करके और देवताओं को सब सत्य से जैसा भी लगता है लेकिन बीच बीच में मन कहता है सत्य जरूर लगता है लेकिन माया जरूर होगी है माया जरूर होगी अब देखो धीरे धीरे करके ज्ञान की दशा में भी ऐसे ही हो जाता है व्यक्ति पहले अज्ञानी तो व्यक्ति जितनी जगत की जितनी लीला माया है सब उसको सत्य ही मानता है लेकिन ज्ञान उदय भी होता है समझ भी आती है तो भी वो सब लीलाएं देख करके जगत की सब देख करके आश्चर्य होता है और वो मन मन में तो थोड़ा थोड़ा मिथ्या भी मानता है लेकिन सत्य भी मानता देखता है एक और सत्य भी लगता है देखो ऐसा सब नियम हो रहा है भाई सब क्या हो रहा है तुम भाई क्या कर रहे हैं कैसी स्थिति आ गई हमारे साथ क्या घट गया हमारा क्या हो गया ये सब उतर की तरफ उसका भी प्रभाव पड़ता है और बीच बीच में ये भी समझता रहता है कि है तो सब नाश भी होता है विषाद भी होता है जगत को सत्य समझ करके व्यवहार करोगे तो एक और विषाद भी होगा और तो अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया ये मानोगे परमात्मा ही सत्य है ये सब जगत की लीला तो मिथ्या है चाहे जितनी सत्य लगती हो तो दूसरी तरफ हर्ष भी जगत के साथ साथ भगवान भी दिखाई दे हम्म, परमात्मा भी दिखाई दे वो भी तो नित्य सत्य स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा भी तो सर्वत्र दिख रहा है अस्थि भात प्रिय रूप क्या है ये तो परमात्मा ही तो है अस्थि है तो परमात्मा है भाती है तो परमात्मा है हम्म, और उसमें जो प्रिय लग रहा है तो भी परमात्मा है और बाकी जगत तो नाम रूप मात्र है ये तो मिथ्या इतना ही है ऐसे करके जब दोनों ही सब दिखाई देते हैं तो नाम रूपात्मक जगत विषाद भी देगा और सुभा प्रिय जो है वो हो वो सुख प्रिय देगा सुख भी देगा और विषाद दोनों लेकिन धीरे धीरे इसी प्रकार चलता रहेगा तो विद्यानंद स्वामी कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति इस प्रकार विचार करता रहे भगवान का ध्यान करता रहे अति भाग प्रिय को बार बार देखता रहे नाम रूपात्मक जगत की उपेक्षा करता रहे धीरे धीरे कही तो नाम रूप मात्र है तो नाम रूप मात्र है प्रति जरूर होता है भाषित जरूर होता है लेकिन है नहीं है है नहीं है ये तो इंद्रिया ही ऐसी हैं जिनको की सब जगत लगता है वास्तव में सत्य नहीं है ऐसे करके धीरे धीरे करके निश्चय करता रहे करता रहे तो दोनों का साथ साथ क्रम चलता है कि जैसे जैसे जगत तिरोहित होता है वैसे ही वैसे परमात्मा प्रकट होता है और जैसे जैसे परमात्मा की अभ्यक्ति दर्शन और अनुभूति प्रकट होती जाती है वैसे वैसे जगत तिरोहित होता जाता है उदाहरण देते हैं जैसे कि प्रातः काल हुआ सूर्योदय हुआ और कोड़ा भी पड़ रहा है हा? तो देखो कोहरा पड़ रहा है लेकिन फिर भी मालूम हो गया कि दिन हो गया और दिन हो गया तो सूर्य दिखाई दिया उन्हें सोचता तो तो नहीं सूर्य नहीं दिखाई दिया तो फिर आपको कैसे मालूम हो गया दिन हो गया जो सूर्य नहीं दिखाई दिया अब इस कोहरे के बीच बीच में जो रोशनी दिख रही है चमक रहा है ये कोहरा ये कैसे चमक रहा है तो अपने आप अंधेरे में थोड़ी चमकता है फिर सूर्य जरूर उदय हो गया उसी के प्रकार में चमक रहा है तो जब जब सूर्य नहीं दिखाई देता तब भी मालूम है कि सूर्य का उदय हो गया हम्म? एक दृष्टि है फिर देखते हैं धीरे धीरे करके कोरा घटने लगता है जैसे कोरा घटने लगता है तो आकाश में एक विशेष स्पॉट है वो ज्यादा प्रकाशवान दिखाई देने लगता है सूर्य नहीं दिखाई देता एक विशेष स्थान पर ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है आप मानो पड़ता देखो सूर्य यहाँ तक चढ़ाया है मैंने सूरज भी दिखने लगा अब कोरा घट गया अब कोरा और घटता जा रहा है तो सूर्य का क्या होता है उसका बिंब गोल गोल भी दिखने लगा है? हाँ? अब दर्शन देखो सूर्य को होने लगे और कोरा और घट गया कोरा और घट गया समाज से तो बिल्कुल कोरा हो गया तो प्रकार सूर्य चमाचाम सब देखने लगा फिर तो सूर्य में कोई बत ही नहीं सब उसकी उसकी तरफ देखना उसके ऐसे देखना लगे सब प्रकार लेकिन आप ये चाहे कि दोनों एक साथ दिखे कि कोहरा भी खूब दिखे घना और सूर्य भी खाना घना घन दिखे हा? तो जैसे यहाँ पर प्रकृति में यह संभव है इसी प्रकार आंतरिक जगत में भी है कि अविद्या का वासनाओं का जो कोहरा छाया हुआ है उसी बीच में परमात्मा दिखता तो है लेकिन ऐसी दिखता है जो परमात्मा न होता उसकी चेतना न होती भी बुद्धि कैसे काम करती इंद्रिया कैसे काम करती ये तो साफ दिखाई देता है लेकिन साफ साफ वो परमात्मा दिखाई दे इसके लिए वासनाएं समाप्त होनी चाहिए शांत होनी चाहिए तो ये कहते हैं किस प्रकार से प्रभु देह हर से विषाद मदत जय जय जय करी रघुवीर ये कहीं तीर को निमेश महु माया हरी भगवान ने बसंत में जब देखा कि रावण ने अपनी पूरी लीला दिखा ली माया दिखा ली तब भगवान का तो काम एक बाण का था भगवान ने दरस के ऊपर एक बाण चलाया और वो बाण चला तो सब जितनी माया था समाप्त हो गई निमेश निमेश महु माया भरी एक बार चलने में कितनी देर लगती क्षण मात्र में और मात्र माया समाप्त हो गई अब न कहीं हजारों लाखों हनुमान रह गए और न कहीं आज चलती दिखाई देती रह गई और न भूत प्रेत के सब गर्ज रहे थे वो सब दिखाई दिए सब समाप्त हो गया वही रावण वही रथ अकेला रावण रह गया और बस उसके बाद वो रावण की सब माया और उसका सारा पाखंड समाप्त हो गया माया विगत का भालू हर गए जहाँ माया थी कहा ये भालू और जित रहे थे सब प्रसन्न हो गए इनको सब सुना आ गई और फिर सब ये उत्साहित हो गए शक्तिशाली फिर में शक्ति आ गई और फिर उन्होंने क्या किया कि बिटप गिरी गई सब फिरे सब फिर उन्होंने पत्थर उठाए फिर उन्होंने पेड़ उठाए और इन्होंने ले के ये सब फिरे कि मैंने रावण की तरफ लौट करके फिर चलू जो भाग रहे थे वो वापस रावण की तरफ दौड़े और उनको ऊपर आक्रमण करने के लिए चलिए पर निकर छाड़े राम रावण बाहु से पुनि पर मई गिरे इधर भगवान ने भी और बाण मारे तो बाढ़ मारने से रावण के सिर कट कट के गिरने लगे बाहें कट कट के गिरने लगी जैसे पिछले दिन हो रही थी लीला वही बार बार सिर काटते हैं बाहें काट देते हैं रावण की नई निकल आती है भगवान बार बार मारते हैं कटते जाते हैं बस अब तुलसीदास तो जी अब समापन की सूचना देते हैं तब रावण भगवान राम रावण की युद्ध का अंत होने जा रहा है इसलिए श्री राम रावण समर करित अनेक कल्प जुगा वही भगवान श्री राम जी का रावण का जो समर चरित्र मन युद्ध लीला जो भगवान की जो हुई वो अनेक कल्प जुगा वही कोई कल्पों कल्पों तक गाता रहे मन गाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे चलते रहे चलते रहे तो भी सतशेष सारद निगम कवि कदपि पार न पावही चाहे सैकड़ों नाग हो चाहे सरस्वती हो चाहे वेद हो चाहे तमाम कवि हो वो सब इनकी भगवान की सभी का वर्णन करते रहे सतत पार न पा वही कभी अंत नहीं पाएंगे वो वर्णन नहीं करते और इसी प्रकार की लीला चलती रहती है ऐसा क्यों है इतनी लंबी यह लीला क्यों है क्योंकि देखो अब कली चल रहा है उसके पहले द्वापर था उसके पहले त्रेता था सीता में भगवान का अवतार हुआ रावण से युद्ध हुआ तो रावण का युद्ध हुआ तो सब भी युद्ध हुआ और आज भी हो रहा है हाँ? अब भी हर व्यक्ति के हृदय में देवासुर संक्रांत चल ही रहा है हाँ? तो इतने इतने युग बीत गए तो क्या वो लीला खत्म हो गई क्या अभी लीला खत्म और आगे भी ऐसी चलती रहे तो कब समाप्त होगी लीला और कब आप कैसे कैसे लीला को थकेंगे एक पीढ़ी जाएगी दूसरी पीढ़ी आएगी फिर लीला का वर्णन करेगी वो भी अनुभव करेगी उसके देवा से संग्राम चल रहा है और वो भी इसी का वर्णन करेंगे वो भी पीढ़ी जाएगी फिर अगली पीढ़ी आएगी उसको भी देवास्व संग्राम होता अपने भीतर पार दिखाई देगा वो भी इसका वर्णन करेगा और फिर करते करते वो भी पीढ़ी चली जाएगी जैसे कल्प बीतते चले जा रहे हैं ऐसे कल्पकल्प बीतते चले जा रहे हैं तो कहाँ है इसका न राम रावण के युद्ध का है और न भगवान की इस लीला का वर्णन करने का कोई अंत है ऐसे ही चलता रहता है तो तुलसीदास जी कहते हैं ताकि गुणगन कछ कहे जड़ मत तुलसीदास तुलसीदास जी कहते हैं हम तो भाई हमारी बुद्धि तो जड़ बुद्धि छोटी बुद्धि हम उस बुद्धि से क्या भगवान राम की और रावण की युद्ध का वर्णन हम करें तो कितना कर पाएंगे तो इसके कहने के मतलब ये नहीं कि तुलसीदास जी की बात सुन करके सुनने वाले पे अरे तुलसीदास जब अपने आप को जड़ बुद्धि कहते हैं तो हम तो उनको दस बार कहेंगे मूर्ख मूर्ख मूर्ख तो तुलसीदास की कथा का वर्णन करता है हम्म? कहते भाई तुलसीदास तुम मूर्ख क्यों कहते जड़ क्यों कहते हो तुलसीदास खुद ही कहता अपने आप से मूर्ख के से मत जड़ो जो अपने आप से अपने आप को जड़ कहते तो हमें कहने में क्या लगता है हम तो दस बार कहेंगे तो जो ऐसा कहेगा तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में तो हमसे भी ज्यादा जड़ है वे हमसे भी ज्यादा जड़ माने और कोई नहीं समझ में आती हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझना चाहिए तुलसीदास जी ऐसा क्यों माने भगवान की कथा आनंद है उसको बताने के लिए तुलसीदास जैसे कहते हैं अपनी जड़ बुद्धि को बात लेकर के नहीं कहते हैं हम लोगों की बुद्धि से तुलसीदास जी की हजारों लाखों गुना बुद्धि अधिक है अब हम कहने लगे हमारी बुद्धि ज्यादा तुलसीदास जी की बुद्धि जड़ है तो, तो इसके मैंने हमारी तो चौतार ठिकाना नहीं चल गया तो कहते ताकि गुणगण कछ कहे जलमति तुलसीदास जिम निज बल अनुरूप थे माखी उड़े का तुलसीदास जी कहते हम तो भगवान की महिमा का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे अनंत आकाश में कोई मक्खी उड़ रही ये आगे चल करके उत्तरकांड में भी आता है जब काकुषण जी दौड़ कोई बताते हैं तो मैं यहाँ खग मशक प्रजनता न बोना ही नहीं पावई अंता कहते तुम ही आदि खग कहते तुम तो आदि पक्षी हो सबसे बड़े श्रेष्ठ राजाओं पक्षियों के राजा हो और मशक पर्यंता तुमसे लेकर के तुम भी आकाश में उड़ते तो कहीं मिलता आकाश और तुमसे लेकर तुमसे भी मने मसक पर्यंता और मच्छर तक आकाश में उड़ते चाहे मच्छर लो चाहे को ले लो तुम गरुड़ को ले लो ये सब एक से एक पक्षी बड़े छोटे पक्षी सब आकाश में उड़ते हैं लेकिन कौन पार पाता है आकाश जैसे ये उदाहरण है इसी प्रकार से बुद्धियाँ पक्षी की तरह से उड़ती है चाहे मच्छर गुनगुना समझो और चाहे कौवा चीज समझो चाहे गरुड़ समझो ये सब भगवान तो परम परमात्मा आकाश उसके सामने क्या परमात्मा वो परमात्मा ऐसा व्यापक है ऐसा आनंद है कि ऐसे आकाश ने कितने आकाश है जिन्हें कितने ब्रह्मांड है जिनमें ऐसे आकाश है और ब्रह्मांड है ऐसे अगणित है कौन उसका पा सकता है कहाँ तक उसका विचार करो कहाँ तक बुद्धि दौड़ा हुआ बस उसकी अनंतता को समझो अनंतता का मैंने कभी उसका पार नहीं पा सकता तो कहते काटे सिर बुझ बार बहु मरत न भट लंके अब बस उसी बात को युद्ध का सर थोड़ी सी बात और रहेगी युद्ध की वो आगे जहाँ एक आध दिन में देखेंगे वो समाप्त हो जाएगी कहते काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट बार बार भगवान उसके सिर काट देते हैं दसो बीटो बुझाए काट देते हैं लेकिन रावण मरता नहीं की क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि जाकुल देखी कलेष कहते हैं इस प्रकार की तो भगवान की क्रीड़ा हो रही है और उधर जाकुल देख कलेष और उनके <clears throat> ये सब देवता लोग जो है वो हो ये देख देख करके उनको क्लेश लग रहा है सिद्ध मुनि सुर सिद्ध मुनि ये सब लोग जो है ये सब जाकुल हो रहे हैं ये सब व्याकुल हम्म, बने <clears throat> उसको उनको सबको पीड़ित हो रहा है सब तो भगवान राम इस प्रकार मारते रहते हैं रावण मर नहीं रहा मर नहीं रहा मर नहीं रहा तो ये तो भगवान की लीला है लेकिन देवताओं के लिए ये है कष्टकारक हो रहा है वो देवता लोग चाहते हैं जल्दी रावण मरे जल्दी छुपका रहा इसलिए उनको विलम्ब लग रहा है और दुख लग रहा है बस इसके बाद फिर कल तो अब रामायण होगी नहीं अब उसके बाद जब ये आएंगे अगली बार तब देखेंगे इसके बाद एक सौ एक तक हो गई अब उसके बाद रावण के जो है वो मृत्यु का समय आ गया तो एक बार अशगुन होते हैं बस तो उसके बाद विभीषण के कहने पर भगवान राम मारते हैं विभीषण ने अब तक नहीं कहा भगवान राम से कि ये भगवान राम जो है ये रावण को इतनी देर आप लड़ रहे हो इसको जल्दी मारो ये बात नहीं आई विभीषण मुख से विभीषण के मुख से कहना देते हैं भगवान के मारने के लिए उसको जब रावण को तब मारते हैं ये भी उसने पीछे रहा से अब हाँ, भगवान इतनी देर तक इनको समझ में नहीं आई कि इतने बार हम एक बार सिर काटे और भुजा काटी इनकी तो वो नहीं मारा तो दोबारा काटने से कैसे मर जाएगा और तीसरे बार काटने से कैसे मर जाएगा ये तो भगवान को पहले समझ में आ जाना चाहिए लेकिन ये बात भगवान को तो समझ में आ गई लेकिन विभीषण को समझ में नहीं आई हाँ, अंत में जब विभीषण को अपने समझ में आ गया विभिषण को भगवान जो है ये चाहते हैं कि हम कहें सभी हम्म, रावण मरे तो विभीषण तो ऐसे ही करके देखो भगवान तो जो है अब सबके सभी प्राणियों के हृदय में विवाह तो संग्राम तो सबके हृदय में चलता है लेकिन सबके हृदय में भगवान जो है ऐसा नहीं करते कि उसका मोल नष्ट कर दे हर व्यक्ति का मोल नष्ट कर दे जब जीव ही भगवान से कहे कि हे भगवान अब बहुत लीला हो गई हम बहुत व्याकुल नाना जन्म धारण करके बहुत दुखी क्लेश में हो गए अब हमें छुटकारा कराओ तो जब तक जीव भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा और उनकी शरण नहीं जाएगा तब तक भगवान वो मोह रहने दे अविद्या उसी प्रकार रहने दे आप कहोगे जब भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप ही उद्धार कर दें उनकी इच्छा कभी नहीं होगी उद्धार करने की जब तक कि आप भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे और सच्चे हृदय से नहीं करेंगे सच्चे हृदय के माने ये लोग भगवान से प्रार्थना करते भी है तो भी सोचते हैं कि लेकिन परिवार तो बना रहना चाहिए शरीर तो बना रहना चाहिए हाँ? और अगर अगला जन्म भी होता है तो क्या हार है हाँ? जन्म जीवन हो तो दुनिया देखने को मिलेगी कैसे संसार में आएंगे हमें क्या लेकिन भगवान मुक्त कर दो ये क्या बात है ये सच्चे मन से नहीं जब वो अगली बार जब आएंगे पच्चीस तारीख छब्बीस तारीख को तब से शुरू करेंगे नान्या हृदय समे सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकौजव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय